दुआ संख्या पंद्रह के बाद सुंदरकांड पंद्रह के बाद जौ रघुवीर होते सुध पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई राम बान रवि हुए जानकी तम बरूठ कहाँ जात उठान की अब हिमा तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित अई हई रघुवीरा निश्चर मारि तो ही लई गई है त्रिणुपुर नारदाद जसु गई है सुत कपि सब तुम समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरी हृदय परम संदेहा सुन कति प्रगट की निज देहा कनक भूधरा काज शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा सीता मन भरोस तब भयऊ स्वप्न लग रूप पवन सुत सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ हैं खावी परम लघु ब्याल लाल सिया रामचंद्र की जय सब संतन की जय आप स्मरण करें लंका अशोक वन अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर भगवान श्री राम जी का संदेश उनको सुनाया और सीता जी को फिर धैर्य बढ़ाया उनको पंद्रहवे दोहे में कहा कि देखो भगवान श्री राम जी जो है वो अग्नि के समान उनके बाण है निश्चय निकर पतंग सम रघुपत बाण कृषाण भगवान श्री राम जी के बाण जो है कृषाण के समान है अग्नि के समान है जैसे अग्नि में पतंगे आकर के जल करके भस्म हो जाते हैं ऐसे ही सब निशाचर क्या होंगे जननी हृदय धीरे धर जरे निशाचर ज्ञान उनके ये सब निशाचर आकर के इसी जल जाएंगे हालांकि भविष्य में आकर के ये सब मारे जाएंगे लेकिन हनुमान जी ऐसे कहते कि तुम समझ लो कि सब मारे गए हैं मैंने उनमें कोई अब देर नहीं उनके मारे जाने में <clears throat> नष्ट होने में कोई देर नहीं है उसी में आगे हनुमान जी उनको धरी बनाते हैं सीता जी को कि गौरव वीर होती सुध पाई अगर भगवान श्री राम जी ने ये सिद्धि पाई होती मैंने खबर मिलती उनको तो करते नहीं विलम्ब रघुराई अगर उनको मालूम होता कि रावण यहाँ तुमको ले आया है यहाँ पर है तो थोड़ा कितनी देर में लगती अब तक तुमको ले गए होते राम बान रवि हुए जान की भगवान श्री राम के बाण जो है एक दूसरा दृष्टान पहले जैसे अग्नि का दिया फिर सूर्य का देते हैं जैसे सूर्य के उदय उदित होने पर अंधकार मिट जाता है ऐसे भगवान श्री राम जी के बाण चलने पर ही सब निशाचर जो हो भस्म हो जाएंगे राम बाण रवि भगवान श्री राम जी के बाण सूर्य की तरह से हैं और तम बरूथ कहा जात उधान की और जात उधान निशाचर जितने हैं वो तम बरूथ है अंधकार का जैसे घिरा घिरा हुआ अंधकार इस प्रकार से उनके सामने है तो ऐसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है तो सब निशाचरों को भगवान के बाण समाप्त कर देंगे अब ये तो कथा के रूप में है वैसे अपने हृदय में देखते रहे कि जब तक हृदय में भगवान प्रकट नहीं होते और वो काम क्रोध आदमी साक्षरों को नहीं मारते तभी तक तभी तक अपनी शांति जो है वो <clears throat> हरण हो गई है मानो और जहाँ भगवान प्रकट हृदय में हुए और जहाँ उन्होंने काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट किया तो निशाचर मानो मारे गए और पुनः खोई हुई शांति क्रह में प्राप्त हो गई शांति प्रशांति मैंने आत्मा की नित्य शांति वो हो फिर अनुभव होने लगी वही लक्ष्य है अपना अंततः हमें अपने आत्मा की परम शांति परम विश्राम प्राप्त हो जाना चाहिए मानसिक शांति पर्याप्त नहीं है मानसिक शांति कभी आ जाती कभी चली जाती तो ऐसी क्षणिक शांति पर्याप्त नहीं है आत्मा की वो शांति प्राप्त होनी चाहिए जो शांति जिसमें कभी शांति आती नहीं उसका अनुभव होना चाहिए सदा शांत स्वरूप आत्मा है उसमें वास करें उसी में विश्राम हो वहाँ न कहीं कोई भय है न कोई चिंता है न क्लेश है न कोई दुख है तो वो शांति हृदय में कैसे आवे वो भगवान की कृपा से है वो भगवान का आवाहन करें हृदय में भी प्रकट हो उनके दर्शन प्राप्त हो तो वो शांति भी प्राप्त हो जाए <clears throat> तो अब ही माँ तुम्हें जाम लगाई हनुमान जी कहते हैं कि माँ हम तो अभी आपको ले जा सकते हैं ये हमारा रावण कुछ नहीं बिगा सकता ये रोक भी नहीं सकता जैसे हनुमान जी ने वहाँ जामान के सामने समुद्र के पारदर्श चलते हुए कहा था कि बताओ हमें मान जी मुझे क्या करना चाहिए कहो तो मैं लंका समेत त्रिकुट पर्वत समेत रावण को मार करके सीता जी को मैं उठा लाऊ तो जामान ने मना कर दिया था तो कहा कि नहीं ये आदेश भगवान का नहीं है केवल उनका समाचार लेकर के आओ कहाँ है और भगवान को बताओ उसके बाद भगवान मानवों की सेना लेकर के जाएंगे तब साथ उनको रावण को स्वयं मारेंगे <clears throat> तब उसके बाद ये भी जामान ने कहा था उसके बाद भगवान की यश गाथा रावण के मारने की कथा नारदा लोग गाएंगे वही हनुमान जी बिल्कुल वैसी जामान की जैसी बात है वही सीता जी को सुना देते हैं मानो हनुमान जी कहते हैं हम तो जामान के बताए हुए उसी बात के ऊपर चल रहे हैं प्रभु आय सुनि राम दुहाई कशुभ दिवस जननी धर धीरा कहते थोड़े दिन आप भी धारण करो बस कपिन सहित आएंगे रघुवीरा उसके बाद बारह सेना लेकर के भगवान श्री राम जी आएंगे यहाँ और निश्चर मार चोरी ले गई है और निशाचरों को मारेंगे रावण आदि सब मारे जाएंगे और तुमको उसके बाद किए जाएंगे और त्रिपुर नारदाद जैसे गई है और बस उसके बाद भगवान की श्रद्धा फैलेगी और बार बार सब लोग उसका वर्णन करेंगे तो ये ये कथा भगवान राम के अवतार की कथा क्या है ये समझे कि हमारे अंदर हृदय में जो हम परमात्मा से विमुख हो गए उसे भूल गए नहीं जान पा रहे हैं <clears throat> उसको पुनः प्राप्त करने की कथा है हाँ तो सब नारद आदि सब बार बार यही कहते हैं कि जैसे भगवान राम लंका में गए <clears throat> बानों के साथ और रावण रूपी रावण के निशाचर को मारा ऐसे ही भगवान का स्मरण करो उनकी शरण में जाओ वे हृदय में भगवान प्रकट हो तो काम करो आदि विकार मोह आदि को नष्ट कर दें अज्ञान नष्ट कर दें <clears throat> बस हृदय में आत्मा का आनंद आत्मा की शांति निर्भयता इत्यादि हृदय में अनुभव में आने लगे उसके लिए बार बार भगवान से प्रार्थना करो जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगी तब तक ये समझो कि हम संसार सागर में पड़े हुए हैं संसार सागर कि उसकी तरंगों में डुबकी लगा रहे हैं बार बार जी घबरा रहा है <clears throat> जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के आंखों नाक इत्यादि छिद्रों से होकर के पानी भीतर जाता है तो व्यक्ति व्याकुल होता है उसमें बस ऐसे ही समझो कि इसमें संसार में जब तक पड़े हुए हैं तब तक हम व्याकुल हो रहे हैं जरा जरा सी बातों को लेकर के बबड़ाने लगते हैं भगड़ाने लगते हैं हाया करने लगते हैं चिल्लाने लगते हैं हाव खाव काव काम भाई भाई करके सब सारी जिंदगी इस प्रकार से जीतती है ये दीन दशा है व्यक्ति की इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान का स्मरण करो हृदय में परम विश्राम परम शांति संतोष आनंद ये प्राप्त हो तो निष्कर्मार तो ही ले गई है क्यों पुरनारदाद जस गई है भगवान की यश गाथा ये है कि भगवान की भगवान स्वभावता इस प्रकार का भगवान स्वभाव है कि वो हृदय में प्रवेश सूर्य का स्वभाव है अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है अब ऐसा तो कुछ नहीं कि उदय होता है तो सूर्य को बड़ा काम करना पड़ता है वो तमाम अंधकार को समेटता है अलग करता है विनाश करता है परेशान होता है ऐसा कुछ नहीं सूर्य तो अपने आप ही उदित हुआ विद्यमान आकाश में है मात्र बस उसके होने से ही अपने आप ही अंधकार नष्ट होता है ऐसे ही परमात्मा को कुछ करना नहीं पड़ता बस परमात्मा की शरण स्वीकार की <coughs> और उसके गोद में पहुंचा तो अपने आप ही सारे निशाचरी काम क्रोधारी भाग गए शांति दुख क्लेश दूर हो गए अपने आप ही अज्ञान नष्ट हो गया अपने आप ही परम प्रकाश परम शांत विश्राम प्राप्त हो गए बस ये भगवान की गाथा है गुण गाथा इस प्रकार से तो है सत कपि सब तुम तो ही समाना तो कहते हैं कि सीता जी पर पूछ रहे हैं हनुमान जी की एक शंका उपस्थित हुई कहा कि हे सुत अब देखो हनुमान जी सीता जी को बार बार माँ कहते हैं तो सीता जी ने कहा कि हे पुत्र तुम जरा ये तो तुम बताओ कि तुम्हारे समान सब जितने के और बानर हैं क्या तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं इसी प्रकार जैसे तुम है सुत कपि सब तुम्हें समाना जात धामे अति भट बलवाना इन निशाचर तो बड़े शक्तिशाली बड़े बड़े भयंकर रूप इनके हैं <clears throat> इनसे तुम्हारा तुम लोगों का युद्ध कैसे होगा तो मेरे हृदय परम संदेहा सीता जी कहती मेरे मन में तो बहुत संदेह है कि तुम्हारा इनसे कैसे युद्ध होगा कैसे विजय प्राप्त होगी तुम्हारी सुन कट प्रगट की मुझे देहा सीता जी के संदेह को सुन करके हनुमान जी ने क्या किया प्रगट की निज देहा अभी मानो ये निज देह नहीं थी अब हम अपना शरीर प्रकट किया है अभी तक तो ये बनावटी शरीर जरा सा शरीर धारस छोटा सा रूप धारण किए हुए सीता जी के सामने बड़ी ब्रह्मता के साथ छुटे हुए खड़े थे और हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर प्रकट कर दिया अपना शरीर प्रकट कर दिया तो कैसा शरीर हो गया उनका कि कनक भूधरा कार शरीरा ऐसा शरीर हो गया कनक मन मतलब सोने जैसा चमचमाता हुआ लेकिन भूधर आकार भूधर माने पर्वत के आकार पर्वत जैसा विशाल शरीर जैसे सोने का कोई पर्वत हो ऐसे बड़ा ऊंचा शरीर में भी अपना सीता जी के सामने प्रकट कर दिया और समर भयंकर और हनुमान जी इस प्रकार से अपनी गदा लिए हुए टेढ़ी किए हुए और अटल करके खड़े हो गए जिस युद्ध में उनके सामने कोई आवे तो बस उसका झटपट विनाश करते हैं समर भयंकर अति बल और बल भी वीर भी अब देखो इतने इतनी बातें एक साथ दिखाई दी एक तो उनका शरीर की विशालता भी दिख गई उनमें भयंकरता भी दिखाई दी युद्ध में तो भयंकरता ही सुंदरता है भयंकर रूप युद्ध में सबसे सुंदर कौन जो सबसे ज्यादा भयंकर हम्म? तो उस समय भयंकर रूप धारण करके उन्होंने हनुमान जी ने दिखा दिया और <clears throat> उनका बल भी दिखाई देने लगा उनका उनका जो है <clears throat> वीरता भी उनकी दिखाई देने लगी ये सब उनके शरीर से प्रकट होने लगी सीतामन तब भयू वो जब रूप देखा हनुमान जी का <clears throat> तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ कहा कि हाँ ऐसे तो हनुमान जी हैं तो और भी बानर ऐसे हो सकते हैं तब तो फिर निशाचरों से उनका मुकाबला हो सकेगा सीता मन तब भयू जब सीता जी का मन में भरोस हो गया तब पुण्य लग रूप पवन सत तो हनुमान जी ने फिर अपना छोटा देखा ये कैसे कर लेते बड़ा भारी सभी कर लेते छोटा सभी कर लेते है आपने कभी हवा को देखा है हवा कभी छोटा रूप धारण कर लेती कभी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती अभी हवा न चल रही हो तो आपको लगे जैसे हवा है ही नहीं धीरे धीरे हवा चलने लगे तो आपको लगे कि यहाँ छोटी हवा थोड़ी चल रही है और फिर जरा आधी तूफान आ जाए तो मानव वायु ने अपना भयंकर रूप धारण कर लिया धड़ाधड़ धड़ाधड़ पेट झड़झड़ होने लगे गिरने लगे टूट टूट करके तो आप कहने लगे था वायु ने तो प्रचंड रूप धारण कर लिया हम्म? जब सूक्ष्म बातों के दृष्टान भी सूक्ष्म चाहिए हाँ, उनको समझने के लिए तो अब जो इसलिए कहते हैं ये हनुमान जी कौन है पवन सोते हैं तो पवन का सहारा लेकर के हनुमान जी को समझे हम्म? कि जैसे कि पवन जो वो लघु रूप भी धारण कर लेता है और आंधी तूफान का प्रचंड रूप भी धारण कर लेता है इधर की तरफ आंध्र प्रदेश में ये पवन सत हनुमान जी प्रचंड रूप धारण करके उसी तरफ कृष्णा उसी तरफ है आंध्र प्रदेश की तरफ हम्म, तो कभी कभी जो है वहाँ से समुद्र की तरफ से हवा बड़ी जोर की इतनी आती थी तूफान <clears throat> बादल आदल लिए हुए घर घोर बरसा होने लगती है और सब झोपड़ी ओपड़ी मकान मकान सब उड़ जाते हैं पेड़ सब भराशाई हो जाते हैं तो देश भर दुनिया भर दौड़े सहायता करने के लिए वहाँ के लोगों के लिए नहीं <clears throat> तो वो सबका सब वायु कितना शक्तिशाली हो जाता हम लोग यहाँ से नहीं समझ सकते हम लोग तो कभी कभी साल दो साल दस साल में कई आंधी आ जाती जो की काली आंधी आ गई लाल आंधी आ गई तब हम जानते हैं जैसी आंधी हुई नहीं तो आंध्र प्रदेश में हो तो दिखाई दे हर साल जो हो <clears throat> प्रचंड रूप कैसा आता है वायु का तो सीता मन भरोस तव तो भयू फुल लग रूप पवन सुत भयू जैसे आंधी तूफान निकल जाए और उसके बाद वायु अपने बिल्कुल शांत शीतल हो इसी प्रकार से मानो हनुमान जी थे लग रूप धारण कर सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल हनुमान जी कहने लगे <clears throat> कहे कि माता सुनो ये कोई हमारी अपनी लोगों की कोई सामर्थ्य छोड़े है शाखा मृग कह करके अपनी हीनता दिखाते हैं <clears throat> मृत के मैंने पशु और शाखा मृत के माने पेड़ों की डालों पर रहने वाले पशु तो उसको नाम बानर को कहते हैं शाखा मृग <clears throat> तो कहते हैं सुनो माता हे माँ सुनो शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल इन बंधुओं को जो पेड़ों पर रहने वाले शाखा मृग है इनको हम लोगों को न तो कोई कोई बड़ा बल है हम लोगों में न कोई बड़ी बुद्धि है ये कुछ हम लोगों में कुछ अपनी आप थोड़े है ये तो प्रभु प्रताप ये तो भगवान श्री राम जी का प्रताप है उन्हीं की शक्ति है जिसके कारण से हम लोग शक्तिवान मालूम होते हैं इस प्रकार से <clears throat> प्रभु प्रताप के जरूर ही खाई परम लघु ज्ञान भगवान की महिमा देखो ऐसे है कि अगर छोटा भी सर्प हो तो कहो गरुड़ को खा जाए हाँ, ऐसे <clears throat> वैसे तो गरुड़ जो है बड़े बड़े सर्पों को खा जाता है करोड़ कोई सर्पों से दबता थोड़ा है वो तो उसका तो भोजन है वो लेकिन अगर भगवान किसी सर्प को शक्तिशाली बना दे तो वो का करोड़ों को खा जाए उल्टा हो जाए <clears throat> ऐसे करते हैं कि देखो भगवान तुरंत एक दुर्बल व्यक्ति को कितनी शक्ति दे देते हैं तो इसलिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए अगर अपनी बुद्धि में भी लगेगा अरे हाँ हमारी बुद्धि कितनी है हम समझ ही क्या सकते हैं हम कर ही क्या सकते हैं तो जरा भगवान की शरण में तो जा करके देखो और भगवान अपना ले की कृपा हो जाए तो देखो बुद्धि में कैसा चमत्कार आ जाए और क्या क्या बुद्धि में सूझने लगे और कैसा कैसा योजना बनने लगे कैसे कैसे कार्य होने लगे और कैसे कैसी महानता जीवन में आ जाए हाँ दिव्य पुरुष बन जाए युगांतरकारी व्यक्ति बन जाए एक संसार में एक नया युग तो नाश प्रकार के प्रभु है तो ये कैसे हो गए कोई अपनी शक्ति से थोड़े वो तो परमात्मा जिनके गले में प्रकट हुआ है उनका बलाया है वो लोग ऐसे महान हो गए लेकिन हम लोग भगवान की शरण में नहीं जाते शक्तिशाली तेजवान प्रतापवान जो भगवान है उनकी शरण में नहीं जाते हम अपना अहंकार लिए हुए देहाभिमान लिए हुए शुद्ध जीवन जीते हैं उसमें शक्ति ही कितनी है वो बेचारा कर ही जा सकता है ऐसा व्यक्ति जो देहाभिमान संकुचित जीवन जीने वाला <clears throat> उससे कुछ करते सकते नहीं बनता उत्साह भी नहीं आता उसके इसलिए कहते हैं प्रभु प्रताप ते गरुड़ी खाहू परम लगे जाल आगे देखिए मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलशानी आशु सुदीन राम प्रिय जाना ताप बलशील निधाना अजर अमर गुण निज करहु बहुत रघुनायक छोहू करऊ कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन अनुमाना बार बार नायस पद सीता बोला वचन जोर कर कीसा अब कृत कृत्य भय मैं माता आशिष तब लोग दीक्षाता सुनऊ मात मुनि अतिशय भूखा लाज देख सुंदर फल रूखा तुम सुत कर रखवारी परम सुभटर चर भारी सुन कर भय माता मुनाई जब तुम सुख मानव मन माई देसी बुद्धि बल निपुण कपि कयो जान की जाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ या रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब सुंदन की जय मन संतोष मत कभी वाणी हनुमान जी ने जब इस प्रकार से इतना विशाल रूप दिखाया लेकिन अहंकार नहीं दिखाया यही कहा कि तो सब भगवान की कृपा उनकी महिमा है व्यक्ति में बल आवे सामर्थ्य आवे योग्यता आवे बुद्धि काम करे कहीं किसी कार्य क्षेत्र में सफलता मिले और जहाँ उसका अभिमान अहंकार जागृत हुआ तो सब किया धराया धूल मिट्टी में मिल गया जो उसकी शक्ति थी जो कुछ कर भी सकता था उसके ऊपर पानी फिर गया ये सिद्धांत जैसे उससे उसके द्वारा जहाँ जो कुछ हो उसको यही समझेंगे तो सब जो कुछ महानता है दिव्यता है श्रेष्ठता है ये सब परमात्मा की है न शरीर की है न प्राण की है न मन की है न बुद्धि की है इन सब में क्या सामर्थ्य ये क्या विचार कर सकते हैं परमात्मा की सामर्थ्य जब ऐसा भरोसा रखेगा तब उसको शक्ति और प्राप्त होगी परमात्मा नहीं तो वो परमात्मा की प्राप्त हुई शक्ति ही अहंकार उसको जो है वो कैंसिल करता रहता है हाँ, जैसे प्लस माइनस हो हाँ तो एक तरफ से प्लस की संख्या आवे और दूसरा तरफ से माइनस की संख्या आवे तो क्या होता है हाँ, जितनी माइनस की संख्या आएगी उतनी घट जाएगी उसमें फिर घट गई माइनस संख्या और आ जाए और घट गए हाँ। <clears throat> गणित में नहीं हम देखते हैं यहाँ करके संख्या इधर आई घटाई क्या हुआ माइनस घटाता चला जाता है हम्म। प्लस आवे तब बढ़ावे अहंकार माइनस शक्ति है निगेटिव शक्ति और परमात्मा जो वो पॉजिटिव शक्ति है <coughs> परमात्मा की शक्ति आती है तो पॉजिटिव शक्ति है प्लस और अहंकार क्या है निगेटिव शक्ति है माइनस शक्ति है वो शक्ति को व्यक्ति को जहाँ ये जागृत हुई कहा उसकी शक्ति घट गई अब ये रास अपने अनुभव करे देखे जाने तो जो देखे का अनुभव करेगा ध्यान देगा व्यवहार में ला करके देखेगा तो इनकी सत्यता दिखाई देगी बाकी ऐसा लगेगा कि काले अक्षर भाई बराबर ये किताबों में से लिखे रहते हैं काले का हाँ? उनका रास नहीं समझ में आया इसलिए कहते इनको यही साधना है व्यक्ति साधना क्या है कि व्यक्ति जो है शास्त्रों का जो कथन है जो सत्यता उसमें कई भी सूत्र दिए गए हैं उनको अपने जीवन में अनुभव करके देखे और अपने जीवन को सेट राइट करे गलत रास्ते पर जा रहा गलत धारणा थी उनको निकाल करके सही धारणा लाए सही मार्ग पर चले सही विचारधारा रखे तो कहते मन संतोष सुनत कभी वाणी कभी वाणी सुनते ही हनुमान जी की बात सुन करके सीता जी को संतोष हुआ कहा कि हाँ ये भी बात ठीक है हनुमान जी शक्तिशाली भी इतने हैं और ये भी जानते हैं कि भगवान की शक्ति से शक्तिवान है तब हमको संतोष हुआ तब तो भगत प्रताप तेज बलशाली तो हनुमान जी के जो वचन थे उनकी विशेषता ये थी हनुमान जी के वचनों में भक्ति थी हाँ। <clears throat> प्रताप तेज बल ये सब उत्साह भी था विश्वास भी था ये सब भी हनुमान जी के वचनों में था तो उनको भरोसा हुआ कि हाँ <clears throat> हनुमान जी और ये लोग कुछ करेंगे तो से दीन राम प्रिय जानी भगवान का प्रिय एक तो हनुमान जी जो है वो के हृदय में भक्ति है तो हनुमान जी भगवान को समर्पित है और दूसरी ओर भगवान को भी हनुमान जी प्रिय है क्योंकि सीता जी भी समझ गए कि भगवान राम ने हनुमान जी को ही भेजा है मुद्रिका इत्यादि दे करके इसके माने भगवान राम को हनुमान जी प्रिय है दोनों बातें हैं इसलिए कहते हैं आशीष दीन राम प्रिय जाना समझा कि भगवान राम के प्रिय ये हैं आशीर्वाद दिया क्या आशीर्वाद दिया अब देखो क्रम क्रम से आशीर्वाद कितनी शिकायत देती जाती है ओ तात बल शील निधाना हे तात तुम बल और शील के निधान हो अब यहाँ शुरू कर बल मन शारीरिक बल हो या बुद्धि बल हो मनोबल हो <clears throat> तो उस बलवान होने का आशीर्वाद देते और उसके बाद देते शील निधाना शील भी हो संसार में देखा जाता है कि बल और शील एक साथ नहीं होते ये आध्यात्मिक पुरुषों में ही दो विरोधी गुण एक साथ हो सकते हैं संसारी व्यक्तियों में बल होगा तो शील नहीं होगा शील होगा तो बल नहीं होगा शील के मन विनम्रा उदारता था <clears throat> ये शील के अंतर्गत आते हैं बलवान होगा तो उसको शील कुछ नहीं होगा अहंकार आ जाएगा हाँ। <clears throat> कठोरता आ जाएगी <clears throat> तो ये जो है वो यहाँ पर सीता जी ने जो ये आशीर्वाद दिया तो ये दोनों बातें कहा कि दोनों फल भी हो और शिव भी और फिर कहा कि अजर अमर गुण निधि हो तुम अजर हो जाओ मैंने वृद्धावस्था तुम्हारे कभी आए नहीं अमर हो जाओ कि मरने को कोई बात ही नहीं तुम्हारे अमर हो जाओ और गुण निधि हो और गुण निधान हो जाओ अब हनुमान जी ने देखो ये सब बातें है ही है बल निधान भी है शिव निधान भी है ही है हनुमान जी अजर अमर भी है इसी प्रकार से सीता जी का सब हनुमान जी को प्राप्त है इसीलिए इस प्रकार से अजर अमर गुण में जिस तो समस्त गुणों की खान और ये तो सब होने के बाद कहा कि करो बहुत करो बहुत गुनायक छोड़ू और सबसे अंत में ये भी कहा कि देखो भगवान राम तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करे प्रेम भाव रखे तुम्हारे ऊपर दया भाव रखें तो हनुमान जी को जैसे उन्होंने कहा कि बल निधान हो जाओ सिर निधान हो जाओ तो हनुमान जी के लगाइए कौन बहुत बड़ी बात है तो हनुमान जी जब मुँह सीता जी के तरफ देखते ही रहे मैंने कुछ और कहे सीता जी ने कहा कि तुम अजर अमर हो जाओ तो भी हनुमान जी भी लगा अजर अमर हो जाना ये कौन बहुत बड़ी बात है तो जब जब उन्होंने सीता जी ने कहा कि भगवान राम की कृपा तुम्हारे ऊपर हो तब संतोष हुआ हनुमान जी तो जब उन्होंने आगे इसलिए दोहराते हैं तुलसीदास कि करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना जब कान से ये शब्द सुनाई पड़े कि भगवान राम तुम्हारे ऊपर कृपा करें उनका अनुग्रह प्राप्त हो भगवान राम तुमको अपना दे ये जब कहा <clears throat> तो कहते हैं कि निर्भर प्रेम मगन हनुमाना तब हनुमान जी जो है वो भगवान के प्रेम से मग्न हो गए तब उनको संतोष शांति आनंद की प्राप्ति हुई <clears throat> तो ये जो है इससे ये भी पता लगता है कि लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारे सामने कि भगवान हमको अपना ले अपना करके मानने लगे उनकी कृपा प्राप्त हो जाए दुनिया की कृपा कोई कोई कृपा नहीं व्यक्तियों की कृपा कोई कृपा कृपा नहीं परमात्मा की कृपा कृपा है जब उसकी कृपा हो वो अपना ले तो बस फिर व्यक्ति जो है वो कृतकृत हो अन्य ऐसे लक्षण तो करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना इस पद शीशा उसने बार बार जो वो <clears throat> सीता जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया मैंने जब हो गए तो प्रणाम करने लगे बार बार से झुकाया बार बार प्रणाम करने लगे और बोला वचन जोड़ कर साथ हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने सीता जी से ये कहा कि अब कत कृत भय मैं माता कि माँ मैं अब कत कृत्य हो गया कृत कृत्य के माने क्या है हा? कृत्य के माने कर्म जो कुछ भी करना था कृत्य के मैंने कर लिया अब मैंने जीवन में जो कुछ भी करना था सब कर लिया तो जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि जो कुछ जीवन में करना था वो सब कर लिया अब कुछ करना शेष नहीं रह गया तब उस अवस्था का नाम एक शब्द में कृतकृत्यता है मैंने कहा यार इसके बाद क्या करोगे अब क्या करना है जो करना था सब हो गया अरे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई उन्होंने अपना लिया अब इसके बाद क्या करोगे और क्या तुम्हें पाना है कर्म जब भी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो कर्म के पीछे कोई उद्देश्य होता है कर्म इसलिए करेंगे चाहे तो लौकिक वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो तो कर्म करे यश सिद्धि प्राप्त करना हो तो कर्म करे स्वर्ग प्राप्त करना हो तो कर्म करे चित्त को शुद्ध करना हो जिस काम कर्म करे माने ये जब कोई उद्देश्य होता है तब व्यक्ति कर्म करता है और ये सब हो जाए ये सब किसी को प्राप्त हो जाए चित्र शुद्ध भी प्राप्त हो जाए और शुद्ध चित्र के द्वारा परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त हो जाए ज्ञान भी प्राप्त हो जाए परमात्मा अपना भी ले उसी परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित भी हो जाए अब उसके आगे और क्या करने के लिए तो उसकी इस अवस्था को कहते हैं कृत करते अब कुछ करना सिर्फ नहीं रहा इसलिए कहते हैं हनुमान जी कहते हैं अब कृत करते भाई मैं माता की माँ अब तो मैं कृत करते हो गया आशीष तब अमोघ विख्याता और कहा कि आपका आशीर्वाद तो अमोघ है ये सारा संसार जानता है